ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे काची प्रतिष्ठितम् आदिरादिर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः सुतम् मे मा प्रकाशीरजनेनादीपेनारोणात्रां समन्दरामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारवतु ऋग्वेदी ऐतरोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था आत्मा वही इधर अग्रे आशीत नान्यत किंचन मिशत सईक्षत लोकानुसृजय इति ऐसा मंत्र है भाष्यकार ने संक्षेप में भाष्य लिखा है इस मंत्र का क्यों श्रुति स्मृति पुराणा आलयम करुणालयम है उनको सब याद है ज्ञान है संक्षिप्त भाष्य है इस मंत्र का भाष्य टीकाकार बहुत पल्लवन कर रहे हैं उस भाष्य का भाष्यकार का अभिप्राय दिखा रहे हैं तो एक एव नान्यत किंचन मिशन ये तीन पद हैं विशेष करके मान सृष्टि के पूर्व अवस्था में ये जो जगत अभी जो दिखता है एक ही आत्मरूपी था माने स्वगत भेद से रहित सजातीय भेद से रहित आत्मा ही था और स्वगत भेद से रहित कहने के लिए एव लगाया विजातीय भेद से कहने के लिए तीन के इंजन्मेशन अन्य कोई हलचल वाला पदार्थ नहीं था ऐसा कहा सृष्टि के पूर्व काल की बात तो इससे सिद्ध हुआ अभी तक ये जो विचार चला कि सृष्टि के पूर्व में आत्मा ही था माने जगत नहीं था अभी आया हुआ है जगत इसके मतलब ये जगत जो होता है कादाचित का है कभी होता कभी नहीं होता वो वस्तु मिथ्या होता है जैसे रज सर्वादी ने देखा है इस स्थिति का तात्पर्य है जगत में आस्था नहीं करनी चाहिए देह देहादि में आस्था नहीं करनी चाहिए ये मिथ्या वस्तु है पहले इसका स्वरूप होता नहीं और वर्तमान में आगे भी खो जाना है इसमें ऐसा स्वरूप है तो सृष्टि के पूर्व में ये नहीं था आत्मरूपी था आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं था अभी आया है सुसुप्ति में कुछ भी नहीं था आत्मा ही था ये जागृत स्वप्न में जगत आया है फिर सुसुप्ति में जाएंगे खो जाएगा इसलिए मिथ्या है ये इस मंत्र के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं ये जगत मिथ्या है दृषात्व सिद्ध होता है ये तो श्रुति ने कहा युक्ति से भी जगत की कोई भी वस्तु हो मिथ्या ही सिद्ध होता है अगर विचार करके देखेंगे तो युक्ति से भी सिद्ध होता है एक व्यक्ति सामने होगा बड़े कांच से हम देखें तो उसको कांच में देखें बड़े कांच में बड़ी आकृति दिखाई देगी उसको छोटे कांच में देखेंगे छोटी आकृति दिखाई देगी और कौन सी आकृति सत्य है बड़ी आकृति सत्य है या छोटी आकृति सत्य आप यही कहेंगे कि वो जो कांचों में दिखने वाली आकृति मिथ्या है बाहर जिसकी आकृति बनी है वो सत्य है यही तो बोलेंगे माने कांच में जो वस्तु दिखाई पड़ता है वो मिथ्या होता है और जिसके वहां प्रतिबिंब पड़ा है कांच में वो सत्य है यही आप कहेंगे यदि चक्षु से जो देखा जाए वही सत्य है बाकी सत्य नहीं कांच में देखने वाला सत्य नहीं बाहर वाला सत्य है तो जो हम जीवाणु के जो परीक्षण होती है कीटाणु जितने भी होते हैं रक्त आदि में अथवा मलमूत्र में जो कीटाणु जी परीक्षण किया जाता है परीक्षणशाला में वहां पर यंत्र के माध्यम से ही उसको देखना होता है हमारे चक्षु का विषय नहीं बन पाता तो चक्षु का विषय बनने वाला ही सत्य हो रहा था पहले अब चक्षु का विषय यंत्र से देखे जाने वाला सत्य हो रहा पहले जो यंत्र से दिखाई पड़ा था वो मिथ्या हो गया था अब यंत्र से दिखने वाला सत्य हो आप तो कौन सत्य है कौन मिथ्या है बोलना मुश्किल हो जाता है यह जगत अनिर्वचनीय है दृषा है यही तात्पर्य है स्मृतियों होता ये केवल यही स्मृति नहीं बोलती है रूप में ऐसे आया है प्रथम अध्याय में छांदव्य ष्ठ अध्याय में इसी प्रकार की बात है यही यहां सिद्ध करना चाहते हैं तो ये जो अग्रे शब्द की सार्थकता दी अग्रे शब्द क्यों दिया एकम एव और नान्यत किंजन विषय तीन पद तो है ही है फिर अग्रे शब्द क्यों दिया एक प्रश्न था उसका तात्पर्य बता दिया था उस काल में जगत का स्वरूप का अभाव दिखाया जा सकता था आत्मा से अतिरिक्त स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता अभी यहां पर आत्मा भी और जगत भी दो दिखाई पड़ते हैं तो जगत है करके दिखाई दे रहा है या जगत का अभाव सिद्ध करना मुश्किल होता है यहां मिथ्या घोषित करना मुश्किल पड़ेगा इसलिए वहां कहा हुआ वहां जिसने समझ लिया है सृष्टि के पूर्व में जगत मिथ्या सिद्ध किया इस समझ गया जिसको समझ में आ गई बात उसी को दृष्टांत बना करके इस समय का जगत को मिथ्या घोषित करेगा यही तात्पर्य है यहां पर अगले शब्द पूर्व में जगत को विषाद को सिद्ध करना सरल हो गया क्यों तो अनभिकृत अनभिव्याकृत अवस्था में था अभी व्याकृत अवस्था में है अभी स्थूलीभूत अवस्था में अपना स्वरूप प्राप्त किया हुआ है या मिथ्या सिद्ध करना मुश्किल पड़ रहा है इसलिए वहां पर जो मिथ्या सिद्ध हो गया है सृष्टि के पूर्व अवस्था में उसी को दृष्टांत बना करके यहां भी ऐसे करेगा इस स्मृति का तात्पर्य था इसलिए अग्रे पद लगाया था अग्रे पद के भी विशेषण देने में सार्थकता बताई आगे यदवा करके बोलना चाहते हैं यदवा नये के वृद्धारण्य के प्रथम अध्याय में एक मंत्र आता है तथेदम तरही अव्याकृतम आशित ये जगत उस काल में अव्याकृत अवस्था में था उस अवस्था सृष्टि के पूर्व अवस्था अव्याकृत था अपना नाम रूप प्राप्त नहीं था इसको नाम रूप प्राप्त करना ही व्याकृत होना है स्थूलीभूत होना है उस समय में सृष्टि के पूर्व में किसी का आकृति भी नहीं होती है किसी की और किसी का नाम भी नहीं होता ये शरीर बनने के पहले ये शरीर के आकार भी नहीं इसका नाम भी नहीं था तो ऐसे ही जगत संपूर्ण जगत की स्थिति यही है तद भेदम तरी अध्यात्म अशरीर ऐसा वृद्धार्थ में कहा यदि सृष्टि प्राग कार्य से अनभिगप्त नाम रूप अवस्थ बीज भूत अव्याकृत आत्मता उच्चते कार्य के क्या कहा वहां कार्य जितने भी थे सृष्टि के पूर्व अवस्था में जो कार्य सृष्टि प्राग सृष्टि के पूर्व अवस्था में कार्य से अनविभक्त नाम रूप बीज अवस्था बीज भूत अत्याकृत आत्मा आत्मता अवचत अत्याकृत स्वरूप है कार्य का कार्य जितने भी हैं अनविव्यक्त अवस्था में होते हैं उस काल में अब अनविव्यक्त जो नाम रूप है जिसका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ है अभी फूलीभूत नहीं हुआ उस अवस्था वाला बीज रूप में बीज स्वरूप अत्याकृत स्वरूप में कार्य कहा जाता है तद्वेदम तरी अत्याकृतम आशी तरी माने उस काल की बात इस मंत्र से कहा जाता है यह तो आत्मा मात्र का और यहां पर आत्मा भाई इधम एक अग्रे आशित मानने के समस्या अभ्याकृत शब्द यहां नहीं है वहां आत्मा शब्द नहीं है वृद्धारण तो एक गुणोपसंहार युक्ति है न्याय है माने ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय में चर्चा आई वही यहां भी करना है वहां से अभ्याकृत पद को इस मंत्र में लाना है यहां से आत्मा पद को वहां ले जाके संबंध करना है वृद्धारण ऐसे संगति लगाएंगे माने ये जगत अव्याकृत अवस्था में था ये बोलना चाह यहां भी अर्थ आएगा ये सिद्ध करना चाह रहे हैं ये कहते हैं तद्भेदम तरी अव्याकृतम आशीत यदि सृष्टि प्राग वृद्धार्थ दिखाया सृष्टि के पूर्व अवस्था में कार्य से अनिवृत्त नाम रूप अवस्थ बीजभूत अव्याकृतात्मता उच्य कार्य जितने भी हैं पूर्व अवस्था इसकी बताई अनभिभक्त नाम रूप की बीजावस्था स्वरूप अव्याकृत स्वरूप बताया कार्य यह तो आत्ममात्र ऐतरे उपनिषद में देखा आत्मा भी इधम अग्रह एक अग्रह आशित नान्य किंचन में सब यहां आत्म बताया यहां अव्याकृत शब्द नहीं बताया वहां आत्म शब्द नहीं बताया इसलिए तत्र श्रुति और विरोध परिहार आया ये दोनों श्रुतियों में उस अवस्था में विरोध होगा वहां पर अव्याकृत था बोलते हैं या आत्मा था बोलते हैं श्रुति में विरोध होगा सामंजस्य कैसे किया जाए वहां तो अव्याकृत था बोला हुआ है वृद्धारण और यहां बोलते आत्मा था आत्मा वही मकर पहले आश्रित तत्र उस स्थिति में श्रुति और विरोध परिहार आया दोनों श्रुति का विरोध दिखता है इसका परिहार खंडन के लिए उपसंहारी कर्तव्य एक का दूसरे में सामंजस्य करना होगा वहां का अव्याकृत शब्द का यहां उपसंहार करना होगा और यहां का आत्मशब्द का वहां उपसंहार करना कर्तव्य यह अव्याकृतम पदम उपसंहृत यहाँ इस ऐत्रोपनिषद में आत्मा वही इधम एक अग्रे आशीष में अव्याकृत पद लाया जाता है वहां किया जाता है एक अव्याकृत आत्मा था सृष्टि के पूर्व ऐसा अर्थ यहाँ आएगा कहा और तत्र और वहां वृद्धारण में आत्मपद नहीं है यहां से आत्मपद का वहां उपसंहार कर दिया जाता है तत्र आत्मपदम यदि इदम अग्रे अभ्याकृतम आत्मा आशी दोनों श्रुतियों में ऐसा अर्थ हो जाएगा वृद्धारण में भी और यहां ऐतरे में इदम मय जगत अग्रे अव्याकृतम आत्मा आशय अव्याकृत आत्मा था ये होगा तच्च जो अव्याकृत होगा वो तत् अभ्याकृतम अव्याकृतम सत वो सद आत्म ही था सदरूप था वो असत नहीं था हम्म। तत्व मैंने अव्याकृत सृष्टि के पूर्व अवस्था में जो अव्याकृत है वह सत सत था हाँ सब आत्मा ही पर तो आश्रित सब आत्मा ही था वो अभ्याकृत कौन था सद आत्मा ही था ऐसा और आश्रित यदि वाक्य में सिद्ध थी ऐसा दोनों श्रुतियों में वाक्य इस प्रकार से सिद्ध होगा यहां वृद्धारण्य भी ऐतरण्य भी तत्र अभ्याकृत शब्द देना स्थिति में जो एक अभ्याकृत शब्द आ गया है अब यहां भी आया वृद्धारण्य तो है ही अभ्याकृत शब्द से क्या लेना है माया को लेना है बोलना चाहते माना माया विशिष्ट आत्मा था बोलना चाहते तथा अत्याकृत शब्द है उस स्थिति में अत्याकृत शब्द के द्वारा अन्यत्र बोला हुआ तमा आशित बोला है वृद्धार में कहा था अभ्याकृतम आशित अभ्याकृत कहीं कहीं श्रुतियों में तमा आशित बोला है वो तम और अभ्याकृत एक ही चीज होता है तमा आशित अन्यत्र कहा है तमसा गुणम अग्रे सृष्टि के पूर्व काल में ये जो कार्य जगत है तम से आच्छन्न था ढका हुआ था तम माने वहां माया माया अच्छा था बोलना चाहते हैं तमसा गुणम अग्रे अग्रे बने सृष्टि प्राण और कहीं कहीं कहा है मायाम तो प्रकृति में विद्या ऐसा आया है जगत के कारण सृष्टि के पूर्वस्था को माया कहा है प्रकृति को माया समझो कहा है कहीं तम कहा है कहीं अव्याकृत कहा है कहीं माया कहा है ये पर्यावाचक शब्द होते हैं अव्याकृत तमा माया ये पर्याकृत प्रकृति ये सब पर्यावाचक होते हैं कहीं कहीं प्रकृति को पहले बोला था कहीं माया को पहले बोला है कहीं अव्याकृत बोलते हैं कहीं तमा आशित बोलते हैं तो पर्यायवाचक शब्द सिद्ध होते हैं मायाम तो प्रकृति में प्रकृति मैंने कारण है जगत के कारण माई नम तो महेश्वर इत्यादि कहा है इत्यादि शो जगत बीजावस्थायाम जगत के बीज रूप जो अवस्था के बारे में विचार करने पर उस अवस्था में तम आदि प्रयोग शब्द प्रयोग जगत के बीज कारण जब ढूंढा गया तो तम शब्द प्रकृति शब्द माया शब्द हाँ, और अव्याकृत शब्द इनका प्रयोग होता है इत्यादि स्मृतियों में जगत बीज अवस्था है जीव की जगत के बीज अवस्था आकार जो होगा बीज रूप अवस्था में तम आदि शब्द प्रयोग है तम शब्द माया शब्द प्रकृति शब्द अव्याकृत शब्द इनका प्रयोग है ऐसा होने से प्रयोगात तमोरूपा माया उच्चते इसलिए क्या होगा ये जो सृष्टि के पूर्व काल में जो अव्याकृत काल रहेगा तम रूप माया तम होता ढकने वाले को तम कहते हैं अंधेरा ये माया भी ढकने वाला है आत्मा को ढक करके बैठा हुआ कई अनादिकाल से आत्मा को ढक दिया है जो ढकने वाले होते हैं उन लोगों बोलते हैं जैसे अंधेरे में घट होगा घट दिखाई नहीं पड़ता है ढका हुआ है अंधेरे से ढका हुआ है इसी प्रकार हमारा स्वरूप आच्छादित है किसके द्वारा अज्ञान के द्वारा माया के द्वारा दूसरा रूपांतर दिख रहा है मनुष्य रूप में दिख रहा है अपना स्वरूप ढक रहा है इसलिए उसको तम शब्द से कहा गया ये कह रहे तमो रूपा माया उच्चते तो तम शब्द प्रकृति शब्द आदि से जो भी कहा गया था अव्याकृत शब्द से कहीं अव्याकृत है कहीं तमो आश्रित बोलते हैं कहीं प्रकृति बोलते हैं जो भी शब्द से सृष्टि के पूर्व बीजावस्था में जो भी शब्द से कहा गया है वो माया ही सिद्ध होता है तो तमो रूप माया अरे ढकने वाली माया आत्मा को ढकने का काम करती हो अभी आत्मा को हम पहचान नहीं पा रहे अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे देखे जाता हुआ है माया के द्वारा इसलिए उसको कहा तो रूप माया ही ये कहा चाहे अव्याकृत शब्द हो चाहे तम शब्द हो चाहे प्रकृति शब्द हो माया को ही कहा जाता है तेन कार्य से अग्रे अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक मायात्मक तो सिद्ध इसलिए ये सारे उपनिषदों में जहां जहां सृष्टि की प्रकरण आता है तो वही सिद्ध होता है कि कार्य के पूर्व अवस्था कार्य बनने के पहले जो होगा अनविव्यक्त नाम रूप स्वरूप जो माया है वही सिद्ध होता है कार्य जो होता है माया स्वरूप होगा अनविव्यक्त रूप में होता है तो कार्य से अग्रे कार्य का पूर्व जो अवस्था है क्या होता है अग्रे माने सृष्टि के पूर्व अवस्था में अनविव्यक्त नाम रूपात्मक मायात्मकत्व वो माया कारण रूप है माया स्वरूप है कार्य ऐसा सिद्ध होता है तस्या और जो माया है सृष्टि के पूर्व अवस्था में दो चीज दिखाई पड़ रहे हैं कार्य माया रूप में है और अनविव्यक्त अवस्था में है माने उसके कारण बीजा अवस्था में पड़ा है उसको माया शब्द से कहा तम शब्द से कहा अज्ञात और एक आत्मा होगा तो द्वैत होगा कहते हैं आगे बोलते हैं द्वैत फिर भी नहीं होता तस्या वो जो माया है तो तमादि शब्द से कहा गया जो वस्तु है माया चाहे आध्यात्मिक शब्द से कहा है चाहे तम शब्द से कहा है चाहे प्रकृति शब्द से कहा है वो जो माया है कार्य की पूर्वावस्था अविरक्त नाम अवस्था वाली अवस्था है वह आत्मा तादात्म्य होती है उसको आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध कहा है संयोग आदि संबंध नहीं कहा भिन्न वस्तु का भिन्न के साथ में संयोग संबंध आदि होता है किंतु ये भिन्न हो तो तादात्म्य नहीं होता या आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध कहा है ये कहते हैं तादात्म्य उक्ति से तस्या से मैंने उस माया का आत्मा के साथ में तादात्म्य कथन करने से कहा तादात्म्य संबंध होने से सांख्य मतमत स्वतंत्र निराश है सांख्यिक मत में स्वतंत्र प्रकृति को माना है यदि यह प्रकृति हमारी जो वेदांत की प्रकृति जो माया स्वतंत्र होती तो तादात्म्य नहीं कहता भिन्न व्यक्ति भिन्न के साथ तादात्म्य नहीं होता इसलिए सांख्य मत के समान स्वतंत्रत्व का निषेध कर दिया और स्वतंत्र नहीं है उस जगत की प्रकृति अभ्याकृत आदि शब्द से कहा गया जो माया है वो स्वतंत्र नहीं है क्यों तादात तो मानते हैं आत्मा के साथ उसका सत्य और सत्यमान का संबंध तादात स्वतंत्र को निराश है ना सांख्य मत वाले स्वतंत्र मानते हैं प्रकृति या स्वतंत्रता को खंडन के द्वारा तत्र कल्पितत्व सिद्धति तत्र माने आत्मा ही कल्पितत्व सिद्धति माया कल्पितत्व सिद्ध आत्मा में माया भी कल्पित सिद्ध हो जाए स्वतंत्र नहीं है वो माया भी कल्पित है तत्र मानी आत्मनि कल्पितत्व माया कल्पितत्व थी उस माया के भी कल्पित तो माया भी कल्पित है इसलिए अद्वैत आत्मा ही होता है इसलिए यहां आत्मा वही इधम एक अग्रे आशी नान्य किंचन सत्य कहा तय तो कार्यकार भावादि अभाव है आत्मा और माया में जब देखते हैं तय आत्मा माया जो आत्मा और माया में कार्यकारण भाव है नहीं कार्यकारण भाव हुआ तो संवायादि संबंध बोलना तो होता था जैसे घट अपने मिट्टी में समवाय संबंध से रहेगा पर धागा में समवाय संबंध से कार्यकारण भाव हो कारात्म शब्द कार्यकारण में तो वेदांति मानते हैं अच्छा यदि ये कार्यकाल भाव हो दोनों में आत्मा में और माया में तादात्म्य तो शब्द वो तादात्म्य कहते हैं वो जो तादात्म्य कल्पित तादात्म्य आएगा क्यों आएगा कार्यकाल भाव में तादात्म्य वास्तविक तादात्म्य होता है जैसे यहाँ कहते हैं तय आत्मा और माया का कार्यकारण आदि अभाव कार्यकाल भाव धर्म नहीं है आत्मा कारण होता माया कार्य होती अथा माया कारण आत्मा कार्य होता तभी संबंध वास्तविक होता साधारण संबंध किंतु अभाव कार्यकाल भाव का अभाव होने से प्रकारांतरण तादात्म्य अनुपात अन्य प्रकार से तादात्म्य सिद्ध नहीं होता कल्पित तादात्म्य ही होता है अन्य प्रकार संवाय आदि संबंध यहां संभव नहीं है अन्य प्रकार से तादात्म्य होना संभव नहीं है इसलिए कल्पित तादात्म्य आएगा वो तादात्म्य संबंध भी कल्पना है वास्तव में नहीं माया और आत्मा तो माया ही नहीं है कहां से संबंध होना यही है प्रकारांतरेण माने कल्पित तत्व तो अतिरिक्त प्रकार है कल्पित तत्व तो छोड़ करके अतिरिक्त प्रकार को छोड़कर कोई उपाय नहीं है वो माया भी कल्पित है इसलिए स्मृति में जो कहा था आत्मा वही इदमेक अग्रे आशित एक इदमेक एक इदम एवं एक अग्रे आशित नान्य के निर्देश आत्मा ही था ये सिद्ध हो जाता है एक तय कारिका भावादि अभाव है ना आत्मा और माया के कारिका कोई संबंध न होने के कारण से प्रकारांतर तादात्म्य अनिर्वाह अन्य प्रकार से तादात्म्य संभव नहीं इसलिए कल्पित ही तादात्म्य मानना पड़ेगा ततश्च इसलिए क्या हुआ सिद्ध सिद्ध क्या होता है आत्मनो अखंडत्व आत्मा अखंड एक सिद्ध हो जाएगा एक अद्वितीय आत्मा सिद्ध हो जाएगा अखंडत्व तद भिन्न से विषात्म और आत्मा भिन्न झूठा सिद्ध हो जाएगा तो जगत सारे के सारे सृष्टि के पूर्व अवस्था में अपने बीज माया रूप में है अव्याकृत रूप में है उससे अतिरिक्त जगत नहीं है और जो बीज अवस्था माया कहा जिसको अव्याकृत कहा था वो माया ही है वो तो हम आदि समझे माया है वो माया आत्मा से भिन्न नहीं है वो आत्मा ही है इसलिए आत्मा की एक अखंड एक रस सिद्ध हो जाएगा बाकी आत्मा भिन्न जो तो वस्तु मान्यता आती है वो तो कल्पित वो वृषा होता है ये कहा अखंडत्व तद भिन्न से आत्मा भिन्न से समृता सर और आत्मना परिणमान परिणमान अविद्या अधिष्ठान विवर्त उपादान तुम तस्याच परिणामित्व सूचित होती भविष्य इतने शब्दों के द्वारा सूचित होता है क्या सूचित होता है आत्मा अखंड एक सिद्ध हो जाएगा और आत्मा भी न झूठे हो जाएंगे मिथ्या हो जाएंगे घोषित हो जाएगा और आत्मा में परिणाम अविद्या अधिष्ठान आत्मनिष्ठ अधिष्ठानत्व तो धर्म आ जाएगा आत्मा भी अधिष्ठान बनता है किसका अविद्या का जो जगत रूप में परिणाम होने के लिए आत्मा में बैठ करके अविद्या काम करती है परिणाम जो जगत रूप से परिणाम परिणाम होना है अविद्या का उसके अधिष्ठान आत्मा है रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं तो रज्जु अधिष्ठान उसी पर आत्मा में जगत की कल्पना होनी है अविद्या से तो आत्मा आत्मनिष्ठ अधिष्ठानत्व तो है आत्मनिष्ठ अधिष्ठान होने से परिणाम मान अविद्या के अधिष्ठान जो जगत रूप से परिणत होना अविद्या का है उसके अधिष्ठान ना विवर्त उपादान चाह इसलिए विवर्त उपादान आत्मा में आ जाएगा परिणाम मान जो अविद्या है उसके अधिष्ठान होने के कारण से आत्मा में विवर्त उपादान होता आत्मा भी उपादान कारण है जगत का विवर्त उपादान कारण रज्जु जैसे सर्प विवर्त उपादान कारण है इस प्रकार आत्मा विवर्त उपादान कारण हो जाएगा ये कारण तस्याश्च वो जो माया है आत्मा में अधिष्ठान आत्मा को अधिष्ठान बना के जगत रूप से परिणत हो रही जो माया वो परिणामी उपादान हो जाएगी ये कहा परिणाम परिणामित्व तो सूचितम ये कहा ये सूचितम बने ये सूचित हो जाता है इन बातों से कार्य से वृषात्वार्थम एवं अव्याकृतात्मा होते कार्य को मृषा मिथ्या घोषित करने यही अव्याकृत स्वरूप बता व्याकृत अवस्था में था ही नहीं है अभी है कार्य से वृषात्वर्थम एवं झूठा सिद्ध करने के लिए मिथ्या घोषित करने के लिए अव्याकृत आत्म तो मुझे अव्याकृत स्वरूप कहा कार्य इत्यादि बताया तस्य अव्याकृत आत्मतादात्म माया मयत्व से मृषात्वाद ये जो कार्य क्यों मृषा होता है दो हेतु देते हैं तस्य मन कार्य से अव्याकृत से आत्मतादात्म्य उसकी जो अव्याकृत अवस्था है बीजावस्था वो उसके आत्मा के साथ तादात्म्य है बीजावस्था माया है माया का आत्मा के साथ तादात्म्य है कल्पित तादात्म्य है तस्य मान अव्याकृत कार्य से जो अव्याकृत अवस्था का कार्य है उसका आत्म तादात्म्य है आत्मा के साथ तादात्म्य है कार्य जब कारण अवस्था में था वो कारण अव्याकृत है वो आत्मा के तादात्म्य है तादात्म्य होने से मायामय तो तो दूसरा मायामय भी है कार्य माया का कार्य है माया का प्रसार होने से वृषात्व ये वृषा है ये कहा कार्य झूठा ही सिद्ध होता है कार्य वर्ग इधानी तो न अनिविभक्त नाम रूप बीजात्मत्व या अग्रे विशेषण इसलिए लगा है इस समय तो अनिव्यक्त नाम रूप नहीं बीजा बीज स्वरूप नहीं है अभिव्यक्त अपने स्वरूप प्राप्त है इधानी तो न अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्व कार्य में ऐसा धर्म नहीं दिखता है अनभिव्यक्त बीज स्वरूप नाम रूप नहीं है यहाँ यहाँ अभिव्यक्त रूप नाम रूप है अभी यदि अग्रे इति विशेषण अभी अर्थवत अग्रे विशेषण सार्थक हो जाएगा इसलिए अग्रे पद लगा दिया माना जो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था में आत्मरूपी था अभी तो अपना रूप प्राप्त किया इसने यहां पर इसको वृषा घोषित करना संभव नहीं है इसलिए अग्रे विशेषण लगा आत्मा वही अग्रे एक मेवा अधिक नाशी ऐसा कहा तद अधिक तद अभिप्रत्यय भाष्य प्राग उत्पत्ति अनभिव्यक्त नाम रूप भेदात्मभूतम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इधानी तो व्याकृत नाम रूप भेदवत्वाद अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम थी विशेष भाष्य में ऐसे पंक्ति लिखी थी शुरू में ये भाष्य में पंक्ति थी प्रथम प्रथम पृष्ठ से ही था प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इरानी व्याकृत नाम रूप भजत्वाद अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम से इति विशेष है पूर्व अवस्था ये अवस्था दोनों विशेष है ये भाष्य में ये पंक्ति कही थी कहा इसलिए तद अभिप्रत्य इसी को लेकर के भाष्य में ऐसी पंक्ति लिखी भाष्यकार ने प्राग उत्पत्ति भाष्य प्रकार की पंक्ति है प्राग उत्पत्ति अनविदक्त नाम रूप भेदात्मभूतम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर एक ही आत्म शब्द का शाब्द प्रयोग होता था आत्म शब्द जन्य ज्ञान ही होता था उस काल में उत्पत्ति के पहले जगत और गोचरम तो जगत वो जगत इधानी मानी व्याकृत अवस्था में इधानीम तो व्याकृत नाम रूप भेदवत्वाद यहां तो अपना अपना नाम रूप प्राप्त किया है इन्होंने होने से अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम वहां पर इदम शब्द भी या जगत शब्द भी दो का विषय बना हुआ होता है अनेक शब्द गोचरम शब्द भी अनेक होगा ज्ञान भी अनेक होगा आत्मा शब्द ही प्रत्येक होगा ज्ञानी के लिए आत्मा शब्द का ही प्रयोग होगा इत्यादि विशेष होगा कहा इति इदानीतन अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्व एवं अग्रे शब्द से व्यावृत्ति उत्तम कहते अग्रे शब्द से व्यावृत्ति किसकी व्यावृत्ति करेगा इस समय के नाम रूप में व्यावृत्ति कर देगा ये व्यावृत्ति उसमें ही अग्रे का विशेषण व्यावृत्त करेगा व्यावृत्ति करने वाले को विशेषण करते व्यावर्तक जो होता है दूसरे से अपने लक्ष्य को भिन्न करने वाला विशेषण होता है किसकी व्यावृत्ति करेगा इस समय की जगत की व्यावृत्ति करेगा ये कहा ये व्यावृत्ति करता है कहा इधानी तरह जो अभिभक्त नाम रूप है इस समय में अविभक्त नाम रूप प्राप्त है जगत का इसका बीजात्मत्व में यही बीजात्मत्व का ही अग्रे शब्द व्यावर्त व्यावर्त उत्तम बीज रूप में हो या अग्रे शब्द का व्यावर्त एक हो जाएगा न साक्षात ईरान एवं मायामय मृषात्मक उचिता वाच्य पूर्व से बोलेगा महाराज जो मायामय कहना है जगत को इसे ना मायामय बोलो ना उस काल क्यों दृष्टांत दिया सृष्टि के पूर्व काल की वो क्यों इसी काल में आत्मा में कल्पित है मायामय है बोलो ये पूर्वादि की शंका न करा साक्षात इधानी में मायामय इस समय भी तो मायामय है वो मायामय होने से मायामय तो है ना मृषात्मदान मृषा मिथ्या बोलो नवाच्यम सिद्धांत कर ऐसा कहना बनता नहीं इस समय में इधानी प्रत्यक्षादि विरोध है ना प्रत्यक्ष से सत्य दिख रहा है कहाँ मायामय दिख रहा है मृषा कहाँ दिख रहा है अर्थक्रियाकारिता दिख रहा है पानी का प्यास लगे तो जो पानी समझे पीते हैं प्यास बुझता है कैसे उसको झूठा बोलेंगे हावी बहुत मुश्किल है ये कहते हैं पूर्वादि ने कहा था न तो साक्षात इधानी में इसी समय बोलिए ना सृष्टि के पूर्व काल में क्यों गए आप इसको मृषा घोषित करने के लिए यही बोलिए इधानी माया मैं तुम तो मृषा तुम तो उच्चता यही बोलिए ना आप कहिए तब कहते हैं ना ऐसा नहीं बनता है क्यों इधानी प्रत्यक्षा प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध कर जा रहा है मृषा घोषित करने के लिए झूठा सिद्ध करने नहीं देना है अर्थक्रियाकारिता है उसमें अभी प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है प्रत्यक्ष है अनुमान है कई प्रमाण सिद्ध करेंगे उसको सत्य सिद्ध करेंगे प्रत्यक्षादि इधानी प्रत्यक्षादि विरोधी ना तथा बोधहित तो उस प्रकार से मायावहित्व का ज्ञान कराना मुश्किल है अशक्य है असंभव है इस समय असत्यवाद इति ये पहले कह दिया है नाम रूप अभिव्यक्ति सृष्टि पूर्वम नाम रूप के अभिव्यक्ति से सृष्टि के पूर्व काल इस सृष्टि तो नाम रूप व्यक्ति ष्टी सृष्टि पंचमी नाम रूप अभिव्यक्ति के जो सृष्टि होना है उसके पूर्व काल में नाम रूप अभिव्यक्ति से सृष्टि के पूर्व काल की बात है उसमें तो अभाव है इसलिए जगत था ही नहीं वहां दिखता नहीं था नाम रूप नहीं था नाम रूप अभाव होने से अभाव है ना इधानी में एवं विद्यमान तेरा सृष्टि पूर्वम अभाव है ना इधानी में एवं विद्यमान तेरे इसी समय जगत विद्यमान है उस समय तो अभाव था उसका इधानी विद्यमान होते ना कालाचित उस समय में जगत नहीं था अभी जगत है जो कालाचित होता है वो मिथ्या होता है जैसे रज्जु सर्प है कभी दीता कभी नहीं जैसे स्वप्न पदार्थ है अनुमान से सिद्ध हो जाएगा इधम जगत मिथ्या कादाचित स्वप्न पद अथवा रज्जु सर्प पद जो कभी कभी वस्तु होता है वो मिथ्या होता है पूर्व में अभाव है अभी है इससे कादाचित कभी होता कभी नहीं होता जगत इसलिए मिथ्या है अनुमान से सिद्ध हो जाएगा एक कादाचित अभी रज्जु सर्पादित बत मृषात्म अनुमान के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं इधम जगत मृषा सादाचित गत्वाद रज्जु सर्वत अथवा स्वप्न दृश्य इत्यादि हो जाएगा वक्तुम अपनी प्राग अव्याकृतत्व तो भी अर्थवती इसलिए भी पहले जो अभ्याकृतत्व का कथन किया वो सार्थक हो जाएगा इसे न कंचित अवध्यम कोई भी दुष्ट नहीं है दोष नहीं है दूषण नहीं है कोई भी कहा अवध्यम माने अवध्यम गर्भ्यम दूषण अवध्य शब्द दूषण दूषण नहीं है अथवा दूसरी व्याख्या करना चाहते हैं अथवा जगत अधिष्ठानम किंचित सदरूपम संभावितम जगत की कोई भी कल्पना करते हैं हम किसी भी कल्पना करते हैं अधिष्ठान सत्य होता है रज्जु होगी तो सत्य की कल्पना करेंगे निर्दिष्ठान कोई कल्पना नहीं होती है किंतु तो कुछ कुछ वादियों ने माने सत मैंने असत को भी अधिष्ठान माना हुआ है कुछ वादी ऐसे हैं समाज में किंतु वेदांत ऐसा नहीं माना यही कहना चाहते हैं अथवा जगत अधिष्ठानम किंचित सदरूपम संभावित जगत का अधिष्ठान कोई ना कोई एक सतरूप सत्स्वरूप है इसके संभावना के लिए मैंने निश्चय नहीं हुआ है जगत का अधिष्ठान जो होगा वो सत्य होगा ऐसे संभावना के लिए जगत अधिष्ठानम किंचित सदरूपम संभावित संभावना के लिए इधम अग्रे आशित इसलिए पहले भी था था तो कहीं ना कहीं था वो जो था वो सत्य था ये सिद्ध करना जिसमें यह था सृष्टि के पहले सत्य था ये सिद्ध करना है वो सत्य आत्मा होता है सिद्ध करना है आशिक उच्चते कहा असंभावित है तस्मिन अखंड उगते निर्वशित होता अगर जगत के अधिष्ठान को सदरूप से संभावना न करने पर क्या होगा तस्मिन आत्मा नहीं आत्मा की असंभावना दिखाने पर संभावना न दिखाने पर तो उक्तर निरक्षण जो अखंड कहेंगे निर्विषय को शून्य हो जाएगा शून्य में जगत का गौतम मत में चले जाएगा शून्य शून्यवाद आ सकता है निर्विषयता आ जाएगी बिना अधिष्ठान का निर्विष्ठान जगत हो जाएगा यदि वहां सत्य की संभावना नहीं करेंगे तो माने कहीं भी कल्पना होती है तो सत में कल्पना होती है जगत में ऐसा देखा है वहां भी कोई सत था माने आत्मा करके निश्चय नहीं हुआ है कोई सत वस्तु है प्राग अवस्था जगत की प्राग जो अवस्था है सदात्मिका है सिद्ध होगा यदि सत की संभावना नहीं करना चाहेंगे तो निर्विष्ठान होगा वस्तु शून्य में पैदा होने लग जाएगा यह आपत्ति आएगी एक असंभावित है तस्मिन उस आत्मा की सत की असंभावना करने पर संभावना न मानने पर अखंड तो होते निर्विषय जो अखंड कहा है उसको वो निर्विषय अखंड होगा शून्य आदि होंगे सिद्ध होगा इसलिए अनेन असत ससविषाणादेव सदरूपेण उत्पत्ति असंभवात कार्य से अवस्था सदात्मिका काचित संभाविका तो इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इदम अग्रे जगत आत्मैव आशित इत्यादि वाक्य का अर्थ ये आएगा अनैन वाक्य असत सस विषाण आदि रिव जैसे सस विषाण से कोई उत्पन्न नहीं होता क्यों असत से कोई उत्पन्न नहीं देखा खरगोश के सिंह से कोई उत्पन्न नहीं देखा है खरगोश के सिंह ही नहीं होता असत है वो वहां से क्या उत्पन्न होगा असत सविषाण आदि पंचमी जैसे असत जो पदार्थ है खरगोश स्त्री आदि उससे कोई पैदा हुआ देखा नहीं है इसी प्रकार यहां भी असत सदरूप उत्पत्ति असंभव असद वस्तु से सदरूप से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता है जैसे खरगोश के सिंह से कोई घटपट आदि उत्पन्न नहीं हो सकता है क्यों खरगोश का सिंह ही नहीं हो असत है उससे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता इस प्रकार जगत का कारण भी असत होता अभी जो सब कार्यवाद यहां सब चल रहा है इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती असत असत से वो पंचमी है सस विषाणादेर हुए दृष्टांत है जैसे खरगोश के सिंह से कोई पैदा नहीं होता कि वो असत पदार्थ है वो इसी प्रकार अगर जगत के अधिष्ठान असत होता तो असत से पंचमी असतः सदरूप होते अब यहाँ घट सन पट सन मठ सन सदरूप से व्यवहार होता है यहाँ तो सदरूप से उत्पत्ति नहीं हो सकता असत होता तो असंभवात कार्य से प्राग अवस्था ये जो कार्य है इसकी जो पूर्व अवस्था है सदात्मिक का वाच्य कोई ना कोई सब स्वरूप है हम्म। ये मानना पड़ेगा तो उससे ये उत्पन्न होना है क्यों यह सत्य की अनुवृत्ति होती है कहा से प्राग अवस्था सदात्मिक काचित संभाविता एक संभावना है कि सदरूप पहले सत था कोई न कोई था जिसमें ये छिपे हुए थे वहां से उत्पन्न हुए मानना होगा ये कहा तस्या अचेतन जो कार्य के जो प्राग अवस्था है सदात्मिका अवस्था है अचेतन है कि जड़ है एक प्रश्न आएगा जो कार्य में सब सब घोषित हो रहा है तो सदात्मिका ही प्राग अवस्था है वो सब था ये सिद्ध हो जाता है जगत का अधिष्ठान सब था किंतु वो जो जगत का अधिष्ठान सब है जड़ है कि चेतन है ये प्रश्न उठेगा तस्या अचेतन जो कार्य की जो प्राग अवस्था है जो सदात्मिका अवस्था है वो अगर जड़ हो तो अचेतन हो तो कार्याकार में सतो अप्रवृत्ति तो स्वयं कार्याकार से परिणत हो पाएगा कोई परिणाम करा देगा तो परिणत होगा मिट्टी अपने आप घट नहीं बन सकती है दूसरा व्यक्ति चाहिए उसको तो बनाने के लिए अगर वो अचेतन होगा तो एक दूसरे चेतन की जरूरत पड़ जाएगी उसको जगत रूप में बनाने के लिए ये कहा तस्याश जो प्राग अवस्था है सदरूपा अवस्था है कार्य की प्राग अवस्था वह अचेतन अचेतन हो होने पर कार्याकार स्वतो अप्रवृत्ति कार्याकार से स्वयं उसकी प्रवृत्ति हो नहीं पाएगी अप्रवृत्ति अप्रवृत्ति होने से क्या होगा फिर अतिरिक्त चेतना अधिष्ठान अंगीकार नहीं उससे अतिरिक्त एक चेतन है मानेंगे तो फिर अवस्था में एक तो इसकी कार्यावस्था कारणावस्था एक फिर एक चेतन गौरव होगा उसमें अतिरिक्त चेतन मानेंगे उससे अतिरिक्त भिन्न चेतन है उसको माने जगत रूप से परिणत कराने वाला मानेंगे तो गौरव दोष आ जाएगा इसलिए उपादान उपादान अधिष्ठान तयोर एकस्मिन एवं एक ही में दोनों का प्रयोग होता है वही उपादान है वही निमित्त कारण भी अधिष्ठान भी वही है कर, माने बनाने वाला भी वही है बनने वाला भी वही है वो चेतन है वो और वही बनता है विवर्त उपादान तो वही है वो वही बनाता है मकड़ी आदि के दृष्टांत है हाँ। वही स्वयं बनता है स्वयं बनाता है स्थिति उपादान अधिष्ठान तो उसमें उपादान तो धर्म और अधिष्ठान तो अधिष्ठान का अर्थ होता है कर्तृत्व धर्म निमित्त कारण ऐसा होगा क्योंकि ब्रह्मसूत्र में कहा है प्रकृति से दृष्टांता पर्वत आता है ना दृष्टांत है प्रतिज्ञा दृष्टांत होता प्रतिज्ञा भी ऐसी दी है दृष्टांत भी ऐसी दिया है ऐसा ब्रह्मसूत्र है तो उपादान अधिष्ठान और एकस्में देवा उपादानत्व और अधिष्ठानत्व दोनों एक में देखा है कहा देखा है कहते हैं आत्मा घट संयोग विवाह जब आत्मा और घट का संयोग होगा आत्मा व्यापक है घट यहां है एक जगह है तो आत्मा और घट का जो संयोग होना होगा दोनों संवाही कारण होते हैं संयोग पैदा होगा वो गुण है वो पैदा होगा कहा आत्मा में और घट में दो में पैदा होगा पैदा होगा तो आत्मा उसका कारण हो गया उपादान कारण हो गया और वो वो जो संयोग करने वाला कौन घट तो करेगा नहीं आत्मा के साथ संयोग जड़ है तो आत्मा ही करेगा संयोग तो उसका निमित्त कारण भी आत्मा है वो संयोग का आत्मा घट को छुएगा तभी बनेगा वो काम तो माने वो निमित्त कारण वही है उपादान कारण वही देखा है एक ही में निमित्त कारण उपादान कारण होता है कहा देखा आत्मा घर संयोग आदि में देखा एक कहा दृष्टान उपादान तो अधिष्ठान तयोर एक माने उपादान कारण निमित्त कारण दोनों उठता एक में देखा है आत्मघट संविरारो आत्मा और घट के संविरारो वह जैसा होता है उसे संभव आचरण उपादान तो अधिष्ठान तो एक में संभव है इसलिए जगत के कारण जो आत्मा ही है वो चेतन है चेतन क्यों मानना उसको उसका अधिष्ठान तो मानना है कर्ता भी वही है इसलिए चेतन भी है वो चेतनत्व इसलिए चेतन है चेतन तुम आत्मा ही वही जगत का उपादान कारण जो होगा विगत उपादान अगर चेतन है और आत्मा ये सिद्ध होगा टिप्पणी थी आत्मा घट संयोग दो नंबर टिप्पणी आत्मघट संयोग यथा आत्मघट संयोगम प्रति आत्मा न समवाहित आत्मा कारण है क्यों उसमें उत्पन्न होना है आत्मा और घट का संयोग जो पैदा होना है आत्मा में पैदा होना है आत्मा में संवाहित्व है उपादान कारण तो है कर्तृत्व च और वो संयोग करता भी वही आत्मा ही है घर तो संयोग करेगा नहीं आत्मा को छूना पड़ेगा कर्तृत्व भी वही है निमित्त कार्य भी वही है घर को स्पर्श करने के लिए निमित्त भी आत्मा है कर्तृत्व चेतभाव अधिष्ठानत्व अत्र कर्तृत्व यह अधिष्ठानत्व जो टीका में कहा गया है वो कर्तृत्व ही है कर्ता मैंने निमित्त कारण है आगे कहते हैं एवं संभावित ही अधिष्ठान अभिन्न उपादान है कारण है संभावित हो गया कि जगत के कारण संभावना है कोई एक वस्तु है सद वस्तु है सिद्ध होगा वो कैसा है वो अधिष्ठान से अभिन्न उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी ऐसा सिद्ध होने पर एवं संभावित संभावना होने पर अधिष्ठान अभिन्न अधिष्ठान से अभिन्न मान निमित्त कारण से अभिन्न अभिन्न उपादान कारण है अय आदेश हुआ है लोक हो रखा है अभिन्न जो उपादान कारण है उसमें आत्मनि ऐसा आत्मा के सिद्ध हो जाने पर माने निमित्त कारण से अभिन्न उपादान कारण दोनों आत्मा में सिद्ध हो गया जगत के उपादान कारण सिद्ध हो जाने पर क्या सिद्ध होता है तो कहते हैं ऐसा सिद्ध होने पर आत्मा ने अखंड एक रसत्व अखंड एक रस सिद्ध हो जाएगा तस्य भक्तों को अखंड एक आत्मना अखंड एक रसत्व भक्तों तस्य आत्मना आत्मा में अखंड एक सिद्ध करने के लिए एक एवं नान्यत किंचन एक पर एकम नान्यत किंचन विषद इत्यादि पद इसके लिए है वह आत्मा एक ही था अनेक नहीं था और सावैक भी नहीं था और अन्य भी कोई नहीं था यह कहना है ये विशेषण इसके लिए दिया गया ये कहा जब आत्मा संभावना हो गया आत्मा है तब उसके लिए विशेषण दिया गया एक एव नान्यत किंचन विशेषण अश्विन पक्षे या अथवा करके दूसरा पक्ष लिया था यह पहले तो अनविद्यक्त नाम रूप वाली अवस्था थी अभी दूसरे पक्ष में चल रहे थे एक जगत के व्याकृत जगत का अव्याकृत अवस्था कोई शराब्दी का है वो सब क्या है तो आत्मा यह सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया बताई तो अश्विन पक्ष इस पक्ष में अभी जो वर्तमान चल रहा है इस पक्ष में इदम अग्रे आत्मा ही आशित देना ये जो जगत है अभी स्थूल वो जगत अग्रे आत्मा ही आशित सृष्टि के पूर्व आत्मा ही था ऐसा कथन के द्वारा इधम अग्रे आत्मा ही आशित इति अने न इस अंश के आशित अंश के द्वारा संभावित कार्य से प्राग रूपम सो संभावित है मान कार्य का पूर्व रूप आत्मा रूप से संभावना हो गई संभावित कार्य से प्राग रूपम अनुद्य पूर्व कार्य का स्वरूप संभावित कार्य का जो आगे होने वाला कार्य का स्वरूप है उसका अनुवाद करके यदात्मकम इदम आशित ये जगत जिस रूप में था पहले आत्मरूप में था यदात्मकम इदम आशीत स एक एवं कार्य उत्पत्ति के पहले ये जो जगत जिस रूप में था आत्मरूप में था वो कितना है एक ही है एकम एव एक एवं नान्य किंचन इति अखंड एक रसतम विधि है ये विधान हो जाता है आत्मा में इस पक्ष में एक कहा यदि न कश्य तभी अनर्थक्यम कोई भी पद अनर्थक नहीं है एक एवं नान्य कोई भी पद अनर्थक नहीं है सिद्ध हो जाता है ये कहा अनुद्य रूपम अनुद्य में तीन की टिप्पणी थी रूपम अनुद्य तस्य शेष तस्य माने इस कार्य के रूप के अनुवाद करके तस्य लगा देना शेष इस कार्य के जो रूप का अनुवाद करके अध्यात्मिक अवस्था उसकी है सदात्मिक अवस्था आगे कहते हैं अतएव छांदोग्य छांदोग्य में ऐसी प्रक्रिया है सदैव सौम्यम आशी आशील एक द्वितीय ऐसी ष्ट अध्याय नहीं आता है जैसे यहाँ की प्रक्रिया वही प्रक्रिया दिखाई अतएव छांदोग्य छांदोग्य में वैसे ही सदैव सौम्य इधम अग्रे आशीत एकम एवं अद्वितीय वहां भी तीन पर दिया हुआ है और इदम अग्रे सदैव आशीत ये तो जगह पहले सृष्टि के पूर्व अवस्था में सत आत्मरूपी था और वहां भी तीन पद है वो एक ही था उसके समान दूसरा नहीं था और एव लगाने से सजातीय भेद का स्वगत भेद का निराकरण किया था और अद्वितीय करके विजातीय भेद का निराकरण किया था वहां भी ऐसे पद थे सदैव समय जब आशित इत्यस्य सदरूप कारण संभावना तत्व वहां भी सदरूप कारण गए संभावना के लिए क्या किया वहां एवं तत्सिद्ध्यर्थम वो सदरूप कारणता की सिद्धि के लिए सदैव कहा हुआ था उसकी सिद्धि के लिए क्या कहा अगले मंत्र में कहा तद्धय के आहुर असदैव मगरे आशी ऐसा बोल करके कथम सत असत सज्ज आएगा कथम सौम्य असत सज्ज आएगा ऐसा कहा है उसी के पुष्टि करने के लिए कुछ वादी ऐसे है समाज में ऐसे है सृष्टि के पूर्व में असत्था बोलते हैं माने शून्य से जगत हुआ बोलते हैं ऐसे किंतु ऐसा हो नहीं सकता असत से सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती खरगोश के सिंह से कोई उत्पन्न हुआ नहीं देखा है खरगोश का सिंह स्वयं असत पदार्थ है उससे कोई उत्पन्न नहीं देखा है अगर जगत का कारण असत होता तो अभी सब रूप से विद्यमान जगत नहीं होना चाहिए इसमें सत की अनुवृत्ति है तो कोई न कोई सत कारण था यही सिद्ध हो जाता है सांदोग्य में यही कहा अच्छा अतएव छांदोग्य सदैव संवेद अग्रे आशीत इत्यस्य ये वाक्य का सदरूप कारण संभावना ये वाक्य में सदरूप कारण जगत के कारण सदरूप संभावना कर सिद्धि की संभावना के लिए ही तत्सिद्ध्यर्थम कोई सदरूपता की सिद्धि के लिए जगत के कारण सतय सिद्धि के लिए कहा तद्धय के आहुर इत्यादि ना असत कारण बाहु निरस्त और तद्धय के आहु करके अनुवाद करके कथम सौम्य असत असत जाए था असत कारण मात्र निषेध किया असत से सत की उत्पत्ति नहीं देखी है लोग में भी नहीं होता ये अभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं नहीं देखा है यह अन्यथा असिद्ध से सतो अद्वितीय मात्र विवक्ष आया अगर सत असिद्ध रूप में हो जगत के कारण सत सिद्ध नहीं कर सकते हैं असिद्ध होगा सत एक केवल अद्वितीय मात्र कहेंगे तो शून्यवाद भी आ सकता है जगत के कारण अन्यथा असिद्ध सत सत की असिद्धि जो सत होगा उसका अद्वितीय मात्र विवक्षा केवल अद्वितीय था इतना ही सिद्ध करना हो उस स्थिति में क्या होगा तस्य अप्रस्तुत प्रसंगा फिर उसके ये नहीं लाना चाहिए था तब दही के आहु पद नहीं लाना चाहिए वहां छांदो में तब दही के आहु असद वेद केवल मान सत की सिद्धि नहीं करना होता तो तब दही के आहु ऐसा वाक्य नहीं लाते उसी की सिद्धि के लिए वाक्य लाया हम्म। अश्विन अभी व्याख्या है ये जो द्वितीय व्याख्या है जगत के अधिष्ठान सदात्मिका सिद्धि के लिए जो द्वितीय व्याख्या चल रही थी इस व्याख्या में भी कारण से अद्वितीयत्व रेवा कारण अद्वितीय होता है सिद्ध कारण जगत के कारण अद्वितीय है इसलिए ही तर अन्य से वृषात्म कारण जब अद्वितीय है तो उसे जो होने वाले सब झूठे ही होते हैं वृषात्म अभी थी यह भी सिद्ध हो जाता है कार्य से मृषात्व और कार्य मृषा होगा तो उसमें जो कारणत्व तो आता है कार्य हुआ तो उसमें कारण वो कारणत्व तो भी मृषाई घोषित हो मिठाई घोषित हो जाएगा कार्य से मृषात्व निरूपितम जो मृषात्व कार्य के द्वारा निर्मित जो कारणत्व तो होगा वह भी कारणत्व भी तथा तथा माने मृषात मृषात वो भी झूठा ही होगा कारणत्व जो आया वो भी सत्य नहीं है वो भी है यदि तथाविध आत्मज्ञान मुक्ति इस प्रकार के कार्यकाल भाव से अतिरिक्त जो आत्मज्ञान होगा वही आत्मज्ञान से मुक्ति होती है जब कार्य मृषा है तो मृषा कार्य से निरूपित जो कारत्व तो होगा आत्मा में वो भी झूठा ही होगा मैंने कारण में सिद्ध नहीं होता वो इस रूप से इसलिए क्या होगा तथा आत्मज्ञान मुक्ति अभी बक्षमाणा सिद्धति का इस प्रकार के जो आत्मज्ञान होगा उससे मुक्ति भी आगे कहेंगे मुक्ति के बारे में वह भी सिद्धति थी न किंचित अवर्तन कोई भी यहां दोष नहीं है निर्दुष्ट है दीपिका दीपिकायाम तो दीपिका टीका में कुछ और लिखा है तो इदम आत्मा ही आश्रित ये जो जगत आत्मा ही था तो अभी वर्तमान जगत उस काल में आत्मा ही था आत्मा ही आश्रित ऐसा कहा करके यदि अधिकरण इदम और आत्मा का सामान अधिकरण दिखाया इदम आत्मा ही इदम आत्मा ये वर्तमान है दोनों तो सामान अधिकरण दिखाया तो इदम आत्मा ही आश्रित ऐसा बता करके दीपिका में समानाधिकरण बाधाया वो बाध समानाधिकरण माना उन्होंने क्या माना जैसे अह चौर सस्थानो मुझे जो चोर दृष्टि हो गई थी चोर नहीं वो तो थानु बाद बाध समानाधिकरण है समानाधिकरण चार प्रकार के होते हैं बाध अध्यास विशेषण विशेष भाव और ऐक्य चार प्रकार के होते हैं ऐसा है तो ये बाध समानाधिकरण मानते हैं माने उस काल में आत्मा ही है जगत नहीं है इदम को बाध करके आत्मा सिद्ध करना है सृष्टि के पहले ये दीपिका वालों का कथन है बाल समानाधिकरण दीपिकायाम तो आत्मा ही आश्रित यदि सामानाधिकरण जो सामानाधिकरण है ये सामान बाधायाम बाध समानाधिकरण माना है जैसे यश चोर संस्थान पहले जो चोर बुद्धि हो गई थी बाद में ठूठ सिद्ध हो गया तो बोलता है जो चोर देखा वो चोर नहीं थाम वो चोर वो चोर को बाध करके थाम तो सिद्ध होता है इसी प्रकार ये बात ऐसा इधानी जगत विशिष्ट आत्म प्रतिभाष है ना इस समय में तो जगत विशिष्ट आत्मा का भाषा है यहाँ जगत सहित आत्मा दिख रहा अभी जगत विशिष्ट आत्मा प्रतिभाष है ना तत्र बात अनुपत्तियां यहाँ बाद नहीं हो सकता है सिद्धांत कहते हैं वो बाद नहीं हो सकता स्थिति कालम परित्यज अग्र शब्द सृष्टि प्राचीन काल उपाधि थे वहां पर ये है इस समय के जगत जो है ना जगत विशिष्ट आत्मा का प्रतिभास होता है इसलिए जगत यहां बात नहीं कर सकते हैं इसलिए दीपिकाकार बोलते हैं वहां पर जगत का बात किया ये कहते हैं इधानी जगत विशिष्ट आत्मा प्रतिवास है यहाँ इस समय तो जगत विशिष्ट आत्मा है तो जगत का बात कर नहीं सकते हैं इसलिए तत्र बाधन उपत्या इस मान स्थिति काल में बाध न होने से कारण से स्थिति काल परित्यज अग्र शब्द अग्रे शब्द देना अग्रे का पूर्व काल में जगत नहीं था आत्मा ही था ये बोलेंगे प्राचीन काल उपाधि सृष्टि प्रपंच बाद या सिद्ध से अखंड से जो सृष्टि प्रपंच का बाद कर दिया सृष्टि के पूर्व काल में उसे सिद्ध हुआ क्या अखंड एक रस जो आत्मा है उसी को स्पष्टीकरण के लिए एक आदि शब्द वो एक एवं नान्य के इत्यादि शब्द उसके लिए स्पष्टीकरण का न कश्यापि अनर्थक युक्तम कोई भी अनर्थक नहीं है एकादि शब्द कोई अनर्थक नहीं है ऐसा दीपिका ने कहा किंतु सिद्धांत कहते हैं उनकी व्याख्या थोड़ी तो ठीक नहीं है क्यों तत्र अग्र शब्द से न प्रयोजन फिर अग्रे पद की आवश्यकता नहीं बात करना हो तो यही बात किया जा सकता है ये बोलना चाह रहे सिद्धांत तत्र चार नंबर का दीपिकायाम दूसरा दीपिका को दोष देते हैं सिद्धांत वो तो दीपिका में अग्र शब्द से न प्रयोजन दीपिका के टीका के आधार पर अर्थ करते अग्रे शब्द का प्रयोजन नहीं दिखता क्यों आरोप्य प्रतीति दशायाम एवं देखो जिस काल में आरोप्य का प्रतीति हो रही आरोप्य वस्तु दिख रहा हो उसी काल में बाध होता है यहाँ आरोप्य दिख रहा है जगत चोर जब दिखता हो तभी स्थान में चोर का बाद होता है पहले चोर दिख रहा था तब सृष्टि के पूर्व काल में जब जगत दिखा ही नहीं क्या बाध करेंगे उसका बाद तब होगा आरोप्य के प्रतीति काल में आरोप्य को तभी दिखाई देने पर बात किया जाता है एक कहा तो उनकी व्याख्या ठीक नहीं है आरोप्य प्रतीत दशायाम एवं यश चोर स्थानु इत्यादि जो आरोप्य की प्रतीत दशा है जो चोर है वो स्थानु है आरोप्य चोर है वह स्थानु चोर बुद्धि आरोपित है उसको बाद किया जाता है बाद होता है बाद दर्शन है ना यहां भी यहां भी जगत प्रतीति अवस्था में बात करना चाहिए जो जगत वो आत्मा है जगत नहीं आत्मा बाद करना हो ऐसा होना चाहिए यहां भी जगत प्रतीत छाया में तटवादन से न्यायत्वाद जगत का बात करना युक्ति संगत यही होगा सृष्टि के पूर्व काल में नहीं कि जगत की प्रतीति नहीं कहा बार करेगा वहां सृष्टि प्राग अप्रतीत सृष्टि के पहले तो जगत प्रतीति नहीं है अप्रतीत जगत है अप्रतीत बाधानुपत्य बाद का संगति नहीं है वहां बाद होना संभव नहीं देखा किंतु दूसरी बात तीसरी बात यह है बाद होता है कैकालिक निषेध को बाद करना नाशे नास्ती न भविष्य ऐसा प्रयोग होता है इस ठोड़ में चोर नहीं था मेरी बुद्धि केवल खराब हो गई थी अभी भी नहीं है चोर आगे भी नहीं होगा त्रैकालिक निषेध होता है बाद जहां होता है किंच कालत्रय निषेध ही बाद बाद का अर्थ होता है तीनों काल में निषेध होना इन्होंने केवल पूर्व काल में निषेध किया है दीपिका वाले ने कहा निषेध किया सृष्टि के पहले जगत नहीं था तो वर्तमान में जगत भविष्य में भी हो सकता है त्रैकालिक निषेध नहीं पाएगा इसलिए भी उनकी व्याख्या ठीक है प्राग काल एवं निषेध है जैसे काल ने निषेध किया इदम आत्मा आश्रित माने इदम को बाध किया कहते हैं उस काल में तो प्राग काल एवं इति निषेध है प्राग काल में निषेध करने पर बाद एवं निषेध एक काल में निषेध जो होता है बाध नहीं होता त्रैकालिक निषेध जहां होता है उसी को बाद कहते हैं नहीं पाक रखते घटे पूर्वम नरक को घटे थे तो प्रत्यम बाधम मानते हैं कहते हैं घर पहले काला था ठीक है आवा में डाल दिया लाल हो गया पाक से रक्त हो गया एक विलक्षण अग्नि का विलक्षण संयोग हो गया पाक हो गया पाक होने पर वो लाल हो गया है पाक से लाल होने पर पहले घड़ा लाल नहीं था ऐसे ज्ञान का भाग नहीं होता पहले घड़ा लाल नहीं था ऐसे ज्ञान जो होगा अभी उसका भाग नहीं मानते ठीक है नहीं पाक रखते घटे पाक से रक्त हुआ घटे वर्तमान में घट लाल हो गया है उस घट में पूर्वम रक्तो घट इति पूर्वम न घट न रक्तो घट ऐसा बाघ नहीं मानते वहां पहले रक्त घट नहीं था ऐसा बाघ नहीं मानते अरे वह प्राग भाव मानते हैं रक्तत्व का प्राग भाव मानते नहीं कि बाघ मानते वहां तो प्राग भाव माना जाएगा बाघ नहीं माना जाता नहीं पाक रखते घटे पूर्वम न रक्त घटे की प्रत्यय जो ज्ञान होता है पहले घट रक्त नहीं था ऐसा ज्ञान बाघ हम न मानते उसको बाघ नहीं मानते वो तो प्राग भाव मानते हैं घट रक्त घट का प्राग अभाव मानते हैं रक्तत्व का प्राग अभाव मानते हैं बाघ नहीं मानते उसको अतएव भाष्य इसलिए भाष्य में कहा प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदात्मभूतम जगत आशीत हाँ, भाष्य में इसलिए कहा उत्पत्ति के पहले अव्याकृत नाम रूप भेद स्वरूप जगत था ऐसा जगत कारणात्मना सत्ता होता हाँ, जगत को जो है ना कारण रूप से ही अस्तित्व बताया किस रूप से अपने रूप से अस्तित्व नहीं बताया जगत जगत का कारणात्मना है सत्ता होता कारण रूप से ही सत्ता माना है इसका अस्तित्व माना है अपने रूप से न तो बाधा वो जो भाष्यकार की पंक्ति का अर्थ है बाध नहीं है माने कारण रूप से यह था कहना है यह आशित का अर्थ ऐसा करना है न तो सृष्टि प्राग काल अभाव अग्रे यदि कथम काल संबंध योग्य एक शंका होगी सृष्टि के पहले काल भी नहीं है फिर पूर्व में ऐसा कैसे प्रयोग होगा सृष्टि के पूर्व में काल का प्रयोग कैसे होगा एक शंका न तो सृष्टि काल अभाव है सृष्टि के पहले काल नहीं है काल भी सृष्ट होना होगा इसलिए अग्रे इति कथम अग्रे कैसा होगा सृष्टि के पहले काल नहीं है से होता तो काल का वाचक है ये कैसे अग्रे का कथन कथन होगा यदि काल संबंध का योग कैसे होगा सृष्टि के पहले योग मान संबंध है पांच मिट्टी बन कहा योग हमारी उपतत्व उपत्ति कैसी संगति लगेगी इसकी अग्नि शब्द का जो सृष्टि के पहले काल में और सृष्टि प्राप्त ऐसा बोला हुआ है अग्रे अग्रे कालवाचक है कैसे होगा ऐसा नहीं कहना क्यों प्राक काले घट मृदेव आशीत इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य शु काल संबंध में बोधन से उत्पन्न देखो कई चीज को ज्ञान कराना होगा अभी जो मिट्टी का घड़े आदि बने हैं ना ये सब किसी को बताया जा रहा है ज्ञान करा रहा है जानकारी दे रहा है कि जो अभी घटे घट आदि दिखाई पड़ रहे हैं पहले पूर्व काल में ये मिट्टी ही थे सब ये क्या थे मिट्टी थे ऐसा बोला जाता है पूर्व काल बोला जाता है सृष्टि के पूर्व ये ये बनने के पहले मिट्टी थी तो पहले बोला तो काल है तो काल माने सृष्टि के पहले भी काल था सिद्ध होता है ये लौकिक वाक्य सिद्ध कर देता है कहा प्राग काल एक घटसरावाद मृदय आश्रित वाक्य होता है अभी तो घटसरावादी बने हुए हैं मिट्टी के पात्र बने हुए हैं अभी किंतु तो, इसके उत्पत्ति के पहले मिट्टी रूप में थे ऐसा बोला जाता है इत्यादि वाक्य काल संबंधी ने बोध से उत्पन्न देना काल के संबंध लगा कर ज्ञान कराने से युक्ति संगत होती है छह नंबर की नियत मान निर्धारण होता है इसलिए यहां भी यहां भी ऐसे ही होगा तथा तथैव ही तो उसी प्रकार ज्ञान कराना चाहते ये जगत पहले आत्मा ही था ऐसा यहां भी काल संबंध आरोप उत्पत्ति काल का संबंध का आरोप कर दिया जाता है यथा देवदत्त स्थिर काल एक ही है फिर उसका संबंध का आरोप कर दिया काल में काल का संबंध का आरोप कर दिया जैसे देवदत्त एक ही व्यक्ति होता है फिर भी वहां पर देवदत्त स्थिर वो देखा पड़ता अवय अवयवी को लेकर के ऐसा बोल देवदत्त का शीर अरे सब मिला हुआ तो देवदत्त होता है फिर भी वाक्य प्रयोग होता है देवदत्त का शीर अवय अवयवी भाव को लेकर होता है यथा देवदत्त सिर इत्यादि अवयव अवय भेदेना बोधन से दृष्टान्त दृष्टत्व ने देखा है ऐसा बोला जाता है लोग में देवदत्त का शीर बोला जाता है अवयव अवयवी को अलग करके देवदत्त माने अवयवी को बना दिया और शीर को अवयव बना दिया इस तरह से व्यवहार होता है जहां देखा ऐसा राहु शीर में भी ये दृष्टांत करके वहां राहु शीर का प्रयोग होता है वहां अवयव विभाव में शीर ही है वो हाँ, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था एक दैत्य था वो दो भाग में हो गया धड़ बन गया केतु सिर बन गया राहु अमृत पी चुका था मरा नहीं हो यह स्थिति है तो सिर ही राहु है फिर भी राहु सिर का प्रयोग होता है क्यों अवयव भाव को लेकर देवदत्त सिर बोला गया था जहां अवयव भाव वहां वही दृष्टांत करके राहु सिर बोल दिया जाता है राहु सिर इत्यादि होती तत्कल्पनम सिरादि की कल्पना सिर ही राहु है फिर भी देवदत्त से सिर जैसे प्रयोग हुआ राहु एक व्यक्ति मान करके राहु सिर का प्रयोग कर दिया जाता है इसी प्रकार यहां दिया यथा पूर्व काल है भी काल आशित ऐसे वाक्य होता है जैसे वर्तमान में काल है ना वैसे पूर्व काल में भी काल था ऐसा वाक्य प्रयोग होता है जैसे अभी काल है समय है वैसे पहले भी समय चलता था ऐसा यथा होता पूर्व काले भी काल आश्रित ऐसा जो प्रयोग होता पूर्व काल में भी काल था जैसे अभी काल है उसी प्रकार पहले भी काल था इत्यादि कालांतर संबंध आरोपण एक काल में दूसरे काल का आरोपण हो जाता है दीपिकायाम तो दीपिका में ऐसा कहा ये अग्रे शब्द का अर्थ ऐसा किया है काल का बाद पर विद्या परो बोधनीय अपने समझने की जरूरत नहीं है दूसरे के समझाना है उसके को जिस प्रकार से समझता है उसको समझाया जा सकता है पर विद्या परो बोधनीय ये न्याय है क्यों समझाना सामने वाले को वो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में बोल दो जिस तरीके से समझता है उस तरीके में समझा दो काम चलेगा आप मानो या ना मानो अपने को न मानने स्वयं न मानने पर भी उसको समझाने के लिए बोल दिया जाता है परवित्य किया ये नियम इतनी आए ना परमते काल से नित्यत्व देखो नैयायिक सांख्यादि आदि के मत में काल नित्य पदार्थ है तो पूर्व काल में भी काल था ही उनके मत के आधार पर हाँ। तो ये नित्य मानते हैं काल को परमते वैशेषिक आदि के मत में काल से नित्य प्राग अभी सत्वाद काल पहले भी नित्य होने से उनके मत से तो उन्हीं को समझाना है हम मानते कि नहीं मानते वेदांति की हमारी दृष्टि में सामने वाले को समझाना है उनके मत में काल नित्य है तो पूर्व में काल था बोलने कोई आपत्ति नहीं है तो दीपिका में ऐसा कहा है कि पर नित्य नित्या परबोधन इतने आए ना परमते काल से नित्यत्व न दूसरे के सिद्धांत में वैशेषिक आदि के सिद्धांत में काल नित्य है तो पूर्व में काल है पूर्व काली भी काला आश्रित हो जाएगा वहां अग्रे यह बढ़ जाएगा उस तरह से कहा प्राग सत्ता काल पहले भी होने से हाँ, तदरीत्या इस युक्ति से हाँ, तदरीत्या काल संबंध उत्तर उस तरीके से काल का संबंध दिखाया समझ न च तो आत्मा वही आश्रित सत्ता वैशिष्ट है आत्मा था ऐसा कहा रहा तो सत्ता विशिष्ट दिखाई पड़ता है अस्तित्व विशिष्ट अस्तित्व क्रिया है तो एक क्रिया भी रही है सृष्टि के पहले आत्मा वही इदम एक अग्रे आशित तो आशित क्रिया भी तो है एक क्रिया भी है आत्मा से अतिरिक्त एकम एवं अद्वितीय कैसे सिद्ध होगा एक आत्मा एक क्रिया है वहां आशित क्रिया है तो क्रिया अर्थ का प्रयोग है आशित क्रिया का प्रयोग किया एक क्रिया भी है वहां जी शंका है न आत्मा वही आशित आशित पद का प्रयोग किया है आत्मा वही इटमेद अग्रे आश्रित सत्ता वैशिष्ट प्रति वह क्रिया विशिष्ट दिख रहा है सत्ता विशिष्ट दिख रहा है अस्धातु दिख रहा वहां कर्तु क्रिया श्रेयत्व क्यों जो कर्ता होता है वो क्रिया का आश्रित क्रिया का आश्रय होता है आत्मा तो वही आशीन आत्मा का वो होने का कर्ता कौन है पहले आत्मा है तो क्रिया के साथ होता है कर्ता हमेशा आत्मा को कर्ता बनाया हुआ है तो क्रिया भी तो है उस काल में फिर अद्वैय आत्मा कैसे सिद्ध होगा आपका एकम एवं नान्य चिंतन विषय कैसे सिद्ध होगा ये विशेषण कैसे सिद्ध होंगे इति न वाच्यम सिद्धांत कहते ऐसा नहीं कहना एक नंबर टिप्पणी सत्ता वैष्णव प्रतीयते मैंने अधातु से युक्त ही दिखाई पड़ता है क्रिया विशेष तथा अखंड ग्रह सतम न सिद्ध इसलिए क्या फिर अखंड एक रस में दूसरा भी तो है एक आत्मा था एक क्रिया भी थी आशित क्रिया प्राणारूप क्रिया भी तो है तो फिर आपका जो अखंड कृष्ण की सिद्धि नहीं होगी ये पूर्वादी की शंका है उत्तर देते हैं सविता प्रकाशते जो बोला जाता है प्रकाश पुंज ही सविता है फिर प्रकाशते क्रिया भी लगाया और क्रिया में तात्पर्य नहीं है प्रकाश पुंज में तात्पर्य है जैसे यहां भी आशिविता तात्पर्य आत्मा में ही तात्पर्य है उस उसमें नहीं है ये बोला चाहते हैं सिद्धांत कहते हैं सविता प्रकाशते इत्यादि कर्तृवाची प्रत्यय से प्रकाशते कर्तृवाची प्रत्यय है लट लकार का प्रयोग किया हुआ है कर्ता में है लट वहां लकर्म भावे जाकर ये कर्ता में लट आया हुआ है कर्तवाच्य प्रदेश साधुत्व तो मात्रार्थ वह समीचीन तो अर्थ है अच्छा प्रकाशमान है आदित्य प्रकाशमान ही अर्थ होगा प्रकाश में प्रकाश करता ही अर्थ नहीं होगा क्यों प्रकाश स्वरूप ही है क्या प्रकाश करेगा आप यदि आदित्य से प्रकाश भिन्न हो तो प्रकाश से क्रिया लगती प्रकाश का पुंज ही आदित्य है इसलिए वहां पर साधुत्व मात्र कथन होता है वो प्रकाश अधिकार है साधुत्व समीचीनत्व यही अर्थ आता है सवितु प्रकाश और स्वरूपत्व प्रत्ययवत सविता का यही होता है कि साधुत्व अर्थ प्रकाश अधिकार था साधुत्व समीचीनत्व अर्थ करके सविता में प्रकाश स्वरूपत्व का ही विधान दिखाई पड़ता है कथन होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा नहीं बस सदरूपत्व होते आत्मा ही सदरूप है वहां अतिरिक्त सत्ता की आवश्यकता ही नहीं ऐसा है दूसरी बात अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच आत्मा में कोई सत्ता जाति भी नहीं है जो तो द्रव्य को कर्म तीनों में रहने वाले को सत्ता बोलते हैं एक एक में रहने वाले को जाति बोलते हैं नैया एक आदि यही मानते हैं जाति और सत्ता में अधिदेश वृत्ति सत्ता है न्यूनदेश वृत्ति जाति है ऐसा होता है तो आत्मा में अतिरिक्त सत्ता जाति अभाव अतिरिक्त सत्ता भी नहीं वहां आत्मा से अतिरिक्त कोई जाति नहीं है जैसे पृथ्वी में एक अतिरिक्त है पृथ्वीत्व है पृथ्वी से अतिरिक्त वस्तु पृथ्वीत्व है जल में जलत्व है ऐसा आत्मा में कोई धर्म नहीं निर्धर्म है आत्मा कोई जाति नहीं अतिरिक्त सत्ता जाति भावाच अतिरिक्त सत्ता जाति भी नहीं अस्तिक्रिया भी नहीं है अतिरिक्त सत्ता जाति भी नहीं है ये कहा दो नंबर की टिप्पणी अतिरिक्त सत्ता जाति भाव नात्मना सत्ता वैष्णवी सत्ता विशिष्ट आत्मा में होने सकता पूर्व काल में कहा ठीक है आगे पढ़िए अन्यथा सत्ता आश्रित इत्यादि अगते सर्वम सोचता सत्ता आश्रित जो बोला जाता है वो आश्रित का क्या अर्थ करेंगे तो सत्ता स्वरूप ही है वो आश्रित नहीं कर सकते जाति थी ऐसा बोलते हैं तो सब सब सब एक ही अर्थ आता है अन्यथा सत्ता आश्रित इत्यादि अगते वह गति नहीं चलेगी आपकी धातु का अर्थ लेना ले नहीं पाएंगे इस प्रकार यहां भी होगा अगते सर्व सब कुछ ठीक है एक अगते तीन नंबर के सत्ताया भी सत्तांतर वैशिष्ट है सत्ता आश्रित में सत्ता में भी सत्ता मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा एक सत्ता की सिद्धि के लिए अन्य सत्ता ऐसा मानेंगे दोष आ जाएगा जाति में जाति नहीं मानते ना नहीं आएगी दोष आ जाएगा एक जाति में घट में घटत्व जाति और घटत्व में घटत्व फिर घटत्व में घटत्व ऐसे करवाते रहे कहा तो तक चलेगा अनवस्था घट की अभिव्यक्ति तो घटत्व के माध्यम से होता है व्यक्ति की अभिव्यक्ति जाति के माध्यम से और जाति का अभिव्यक्ति स्वतः होता है ऐसा मानते हैं वैसे यहां सत्ता में सत्ता नहीं मानते हैं अन्यथा सत्तांतर अनुगम में सत्तांतर वैशिष्ट अनवस्था मत एक सप्ताह के सिद्धि के लिए दूसरा सप्ताह मानेंगे तो फिर वो जो अभी आई हुई सप्ताह की सिद्धि के लिए तीसरी सप्ताह चौथी सप्ताह अनवस्था दोष में चले जाएंगे और अनवस्था होते निद्रा चय करेंगे अवस्था में व्यक्ति चलेगा तो उसका कारण हो उसका कारण हो उसका रात भर निग्रह नहीं आएगी चलता रहेगा और सत्तांतर अनुभव तो अन्य सत्ता नहीं मानेंगे तो यथोक्त प्रति अनुभूति फिर वो सत्ता आशिक प्रकृति नहीं मानी जाएगी सत्तांतर नहीं मानेंगे तो अनतिरिक्त सत्तायाम तो स्वरूप सत्ता है निर्वाह अतिरिक्त सत्ता नहीं माने पर स्वरूप सत्ता ही निर्वाह करना है स्वयं अपना प्रकाश करना है ये आता आएगा कहा सब सुस्त है बोल दिया समय हो गया है यह रखते थे ओम भाग में मन से प्रतिष्ठिता मनो में काशी प्रतिष्ठिता आविरावीरमयी वेदस्य भाणिष्ठः श्रुतं मे मा प्रासीदने उत्तमं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भगवानम् अवतु भगवानम् ॐ शान्ति शान्ति